श्री विष्णु बोले कहीं आप शूलपाण सनातन देव को भूल तो नहीं गए उन शंकर ने अपने को आपके पुत्र रूप में होने की बात कही थी गोविंद से चेतना प्राप्त कर पद्मयों ने पितामह प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से परम दुष्चर तप करने लगे उनके इस प्रकार दीर्घ काल तक तप करने पर भी किसी भी प्रकार की सृष्टि नहीं हुई बहुत समय बीत जाने पर उन्हें दुख से क्रोध उत्पन्न हुआ क्रोधाविष्ट उनके ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरी तब उन आंसुओं की बूंदों से भूत प्रेत उत्पन्न हुए आंसुओं से उत्पन्न उन सब भूत प्रेतों को देखकर क्रोधाविष्ट प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने अपनी ही निंदा की और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया तदंतर प्रभु के मुख से हजारों सूर्य के समान दे दीप्यमान तथा कालीन अग्नि के सदृश प्राणमय रुद्र प्रकट हुए देवों के भी देव स्वयं शिव उच्च सर में घोर रुदन करने लगे तब रुदन करते हुए उनसे ब्रह्मा ने मत रो इस प्रकार से कहा तुम रुदन करने के कारण रुद्र इस नाम से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करोगे लोक पितामह ने उन्हें रुद्र के अतिरिक्त अन्य सात नाम आठ पत्नियां शाश्वत दीर्घायु पुत्र और आठों स्थानों मूर्तियों को प्रदान किया भव शर्व ईशान पशुपति भीम उग्र तथा महादेव ये सात नाम हैं सूर्य जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश दीक्षित ब्राह्मण तथा चंद्र ये रुद्र की आठ मूर्तियां हैं जो इन आठों स्थानों मूर्ति रूपों में रुद्र का ध्यान करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं उन्हें मूर्ति रूप देव भगवान शिव अपना परम पद देते हैं सुवर्चला उमा विकेशी शिवा स्वाहा दिशाएं दीक्षा तथा रोहिणी ये ही रुद्र की आठ पत्नियां हैं समेश्वर शुक्र लोहितांग मंगल मनोजव कामदेव स्कंद सर्ग संतान तथा बुद्ध ये आठ उनके पुत्र कहे गए हैं इस प्रकार के देवाधिदेव भगवान महेश्वर ने प्रजाधर्म सृष्टि कार्य एवं काम वासना का परित्याग कर वैराग्य का आश्रय ग्रहण किया उस शाश्वत परम अमृत रूपी अक्षर ब्रह्म का आस्वादन कर और आत्मा में आत्म तत्व का आधान कर वे ईश्वर भाव में स्थित हो गए ब्रह्मा जी के द्वारा प्रजा की सृष्टि करो इस प्रकार का आदेश प्राप्त कर नील लोहित शिव ने मन से अपने ही समान रुद्रों की सृष्टि की प्रभु ने सैकड़ों करोड़ जटा जूट धारण करने वाले भय रहित नीलकंठ पिनाक पाणी हाथ में त्रिशूल धारण किए ऋष्टिघ्न महान आनंद स्वरूप तीन नेत्र युक्त जरा मरण से रहित विशाल ऋषभों को वाहन रूप में स्वीकार करने वाले सर्वज्ञ तथा बीतराग रुद्रों को उत्पन्न किया गुरु ब्रह्मा ने जरा मरण से रहित नील लोहित एवं निर्मल अनेक रुद्रों को देखकर हर शिव ने कहा हे देव मृत्यु से रहित इस प्रकार की सृष्टि मत करो भूतेश जन्म एवं मृत्यु वाली दूसरी प्रकार की सृष्टि करो तदंतर काम पर शासन करने वाले जटाजूटधारी भगवान शिव ने उनसे कहा मेरे पास उस प्रकार की जन्म मृत्यु से युक्त शिष्ट नहीं है ऐसी अशुभ प्रजाओं को आप ही उत्पन्न करें तब से उन देव ने अशुभ प्रजाओं की शिष्ट नहीं की और अपने आत्मज उन रुद्रों के साथ वे निवृत्तात्मा क्रिया रहित के रूप में स्थित हो गए इसी कारण देवों में देव उन शूलधारी शंकर का स्थानित्व हुआ अर्थात वे स्थान इस नाम से प्रसिद्ध हुए भगवान शंकर में ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य तप सत्य क्षमा धृति शिष्टत्व आत्मज्ञान तथा अधिष्ठातृत्व ये दस अव्यय शाश्वत गुण सदा प्रतिष्ठित रहते हैं ये पिनाक धारण करने वाले शंकर ही साक्षात परमेश्वर हैं तदंतर प्रीति से विकसित नेत्र वाले भगवान ब्रह्मा ने तीन नेत्रों वाले देव शंकर को मानस पुत्रों के साथ देखा ब्रह्मा ने अपनी ज्ञान दृष्टि से ईश्वर संबंधी परात्पर भाव को जानकर जगत के एकमात्र स्वामी भगवान शंकर की अपने मस्तक पर हाथों की अंजलि बांधकर स्तुति की ब्रह्मा जी ने कहा महादेव आपको नमस्कार है परमेश्वर आपको नमस्कार है शिव को नमस्कार है ब्रह्मा रूपी देव को नमस्कार है महेश आपको नमस्कार है शांति के मूल हेतु आपको नमस्कार है प्रधान पुरुषेश आपको नमस्कार है तथा योगाधिपति आपको नमस्कार है काल रुद्र महाग्रास तथा शून्य को नमस्कार है हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले आपको नमस्कार है तीन नेत्र वाले को बार-बार नमस्कार है त्रिमूर्ति स्वरूप आपको नमस्कार है ब्रह्मा के उत्पत्ति करता आपके लिए नमस्कार है ब्रह्म विद्या के अधिपति तथा ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है वेदों के रहस्य रूप को नमस्कार है काल के भी काल आपको नमस्कार है वेदांत सार के भी सार को नमस्कार है वेदात्म मूर्ति को नमस्कार है शुद्ध बुद्ध स्वरूप को नमस्कार है योगियों के गुरु को नमस्कार है शोकों से रहित विविध भूतों से घिरे हुए आपको नमस्कार है ब्रह्मण्य देव को नमस्कार है ब्रह्माधिपति के लिए नमस्कार है त्रिलोचन परमेष्ठी देव को नमस्कार है दिगंबर आपको नमस्कार है मुंड की माला एवं दंड धारण करने वाले को नमस्कार है अनादि तथा मन रहित शुद्ध रूप ज्ञानगम्य आपको नमस्कार है तारक तथा तीर्थ रूप तथा योग विभूतियों के मूल कारण को नमस्कार है धर्म धर्माचरण के द्वारा प्राप्त योग गम्य आपको नमस्कार है निष्प्रपंच को नमस्कार है भास आपको नमस्कार है विश्व रूप ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है जगन्मय आपके द्वारा ही यह संपूर्ण जगत रचा गया है आप में ही यह संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है और आप ही प्रधानाद समस्त विश्व का संहार करते हैं हैं आप ईश्वर महादेव पर ब्रह्म महेश्वर परमेष्ठी शिव शांत पुरुष निष्कल तथा हर हैं आप अक्षर परम ज्योति हैं आप काल तथा परमेश्वर हैं और आप ही प्रधान पुरुष प्रकृति तथा अनंत हैं भूमि जल वायु अग्नि आकाश एवं अहंकार ये जिसके रूप हैं उन ब्रह्म संज्ञक आपको नमस्कार करता हूँ लोग जिनका मस्तक है पृथ्वी पैर है दिशाएं जिनकी भुजाएं हैं और आकाश जिनका उदर है उन विराट पुरुष को मेरा प्रणाम है जो अपने प्रकाश से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए विश्व को अपेक्षित उष्णता प्रदान करते हैं उन नित्य ब्रह्म तेजोमय सूर्य रूप को नमस्कार है जो अपने रौद्र तेजोमय शरीर से देवताओं को हव्य तथा पितरों को कव्य पहुंचाते हैं उन अग्नि स्वरूप देव को नमस्कार है जो अपने तेज से संपूर्ण जगत को नित्य संतृप्त करते हैं और देवता समूह के द्वारा जिनका पान किया जाता है उन सोम रूप चंद्र देव को नमस्कार है जो संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करती है और जो सभी प्राणियों के भीतर सदा विचरण करती है ऐसी वायु रूपात्मक माहेश्वरी शक्ति आपको नमस्कार है जो प्राणियों के अपने अपने कर्मों के अनुसार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं उन अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित चतुर्मुखात्मक ब्रह्म को नमस्कार है जो अपने आत्मा में प्रतिष्ठित अनुभूति रूप योग से प्रेरित माया द्वारा संपूर्ण विश्व को आवृत कर शेष शेषनाग की शैया पर सहन करते हैं उन विश्वात्मा को नमस्कार है जो चौदह भुवनों वाले ब्रह्मांड को नित्य अपने सिर पर धारण किए रहते हैं और जो सभी के आश्रय हैं उन शेषात्मा को नमस्कार है जो प्रलय काल में दिव्य एवं एकमात्र साक्षी रूप परमानंद का आस्वादन करते हुए नृत्य करते हैं उन अनंत महिमा वाले रुद्रात्मा को नमस्कार है जो ईश्वर ईश्वर सभी प्राणियों के भीतर नियंता के रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं उन सर्वसाक्षी देव और उनके शरीर रूप देव को मैं नमस्कार करता हूँ निद्रा रहित श्वास को जीतने वाले संतुष्ट तथा समदर्शी योगी जन समाधि में जिस ज्योति या प्रकाश का दर्शन करते हैं उन योगात्मा को नमस्कार है जिस विद्या के द्वारा पुण्यात्मा योगी जन अत्यंत कठिनता से पार की की जा सकने वाली माया को सरलता से पार कर लेते हैं उस विद्या स्वरूप देव को नमस्कार है जिसके प्रकाश से यह विश्व प्रकाशित होता है मैं उस अंधकार से सर्वथा रहित अर्थात प्रकाश स्वरूप और अद्वितीय परम तत्व स्वरूप तद्रूप परम तत्व मात्र ही जिनका स्वरूप है उन परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ मैं नित्यानंद स्वरूप निराधार निष्कल परमात्मा परमेश्वर आप परम शिव की शरण ग्रहण करता हूँ इस प्रकार महादेव की स्तुति कर ब्रह्मा उनकी भावना से भावित होकर सनातन ब्रह्म को संबोधित करते हुए विनय पूर्वक हाथ जोड़े हुए खड़े हो गए तदंतर महादेव हर ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ दिव्य योग ज्ञान ऐश्वर्य ब्रह्म की सद्भावना ब्रह्म विशेष उत्तम भाव तथा वैराग्य प्रदान किया शरणागतों का कष्ट हरने वाले उन शंकर देव ने स्वयं अपने मनोरम एवं कल्याणकारी हाथों के द्वारा उनका ब्रह्मा का स्पर्श किया और उन पर अनुग्रह करके वे बोले